पहला प्रश्न भगवान मुझे हिंदी तो बहुत आती नहीं और कभी कुछ लिखा भी नहीं लेकिन जब से आप आए हैं जिंदगी में आप साथ कविता भी ले आए कल आपने कहा कि होश से रहना चूप मत जाना तो आप ही बताएं अब क्या होगा जब इतनी पिला दी तो होश में आने को कहते हो बैठे हैं राह गुजर पे तेरी सांस थाम के मदहोश गिर गए हम तेरे जाम से लड़खड़ाऊ उठ न सकूं जो उठूं कभी पहुंचेंगे जाने कैसे हबी तेरे धाम पे रातों शहर की होश नहीं आए जाए कब कुर्बान हुए जब हम तेरे नाम पे जब से खुला मैं खाना तेरे इसका हसी पीने चले दीवाने से भी जिगर को थाम के कैसे रंगीन दीवाने तेरा रंग है कुछ नया कि चल ही बसे दुनिया के काम से महबूब तू बता तेरी क्या है अब रजा दिल ही तो था गमा के चले तेरे गांव से जब तू अब तू बता कि होश में आए तो किस लिए पाया खुदा भी पीता हुआ तेरे जाम से अमृता धर्म का पहला अवतरण हृदय में काव्य की भांति ही होता है एक गुनगुनाहट एक नाथ इसलिए उपनिषद वेद कुरान एक अपरसीम काव्य से अभिभूत है ऋषि का मौलिक अर्थ तो कवि ही होता था ऋषि यानी वह जिसने कविता केवल लिखी नहीं बल्कि देखी भी काव्य का दृष्टा जिसने सौंदर्य को अनुमान ही नहीं किया अनुभव भी किया धर्म की अनुभूति होती ही नहीं किसी और ढंग से धर्म बुद्धि नहीं है हृदय है बुद्धि तो भाषा समझती है तर्क की हृदय तर्क की भाषा नहीं समझता वहां तर्क की कोई गति नहीं है वहां तर्क का तीर न कभी पहुंचा है न कभी पहुंचेगा हृदय तो समझता है प्रेम को प्रीति को प्रीति की तरंगें वहां तक पहुंच जाती तर्क तो पत्थरों की तरह बोझिल है भारी है उठ ही नहीं पाता प्रेम में पंख प्रेम उड़ान भर लेता है और काव्य हृदय में उठी प्रेम के पुलक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तर्क गद्य है प्रेम पद्य है तर्क बोलता है गणित की सुस्पष्ट भाषा प्रेम बोलता है काव्य की रहस्य से भरपूर शून्य में डूबी हुई प्रेम में पगी हुई गुनगुनाहट नाद काव्य में भाषा दिखाई पड़ती है ऊपर ऊपर भीतर शून्य है गद्ध में केवल भाषा ही भाषा है भीतर कुछ भी नहीं गद्ध केवल वस्त्र ही वस्त्र उघाड़ते जाओ भीतर कुछ भी ना पाओगे गद्ध तो ऐसा है जैसे खेत में खड़ा हुआ धोखे का आदमी दूर से लगता आदमी जैसा पास जाके अगर अचकन उतारी और चूड़ीदार पजामा खींचा तो कुछ भी ना पाओगे गांधी टोपी के नीचे सिर्फ काली हंडी वो भी जो बेकार हो चुकी किसान के काम की नहीं रही वैसा ही गद है काम चलाव है लोक व्यवहार का है बाजार में उपयोगी है मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद के लिए जरूरी है संवाद लेकिन होता कहा विवाद ही होता है पद्य वस्त्रों के भीतर छिपी हुई निर्वस्त्र आत्मा है वस्त्र उतारोगे भाषा के तो काव्य से पहचान होगी और वह पहचान द्वार है परमात्मा का ठीक हुआ अमृता कि मेरे आने के साथ तेरे जीवन में काव्य भी आया अगर मैं आऊं और काव्य न आए तो मैं आया ही नहीं काव्य आ जाए और मैं ना आऊं तो भी मैं आ गया असली चीज काव्य है असली चीज नृत्य है असली चीज उत्सव है रसो वैसा मैं तो सन्यासी की परिभाषा ही यही करता हूं रसपूर्ण होगा वह जब परमात्मा रस है तो उसको प्रेम करने वाला भी रस होगा परमात्मा समझो कि सागर है तो सन्यासी बूंद सही मगर है तो उसी सागर की बूंद और एक बूंद में सार का सारा राज छिपा होता है इसे याद रखना अगर एक बूंद को हमने समझ लिया तो सब सागरों को समझ लिया एक बूंद की पूरी कथा समझ में आ गई तो सागर की सारी कथा समझ में आ गई बूंद संक्षिप्त सागर है बूंद में समाया है सागर जैसे सागर में बूंद समाई है वे दोनों अलग अलग नहीं है कबीर ने कहा हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई बुंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई समुद्र समाना बुंद में शोकत हेरी जाए पहले कहा बूंद सागर में समा गई अब उसे कैसे निकाले और फिर कहा और भी बड़ा चमत्कार हुआ है इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ है सागर बूंद में समा गया अब तो बूंद को कहां से खोजा जाए जिस दिन परमात्मा में उसका खोजी उसका प्रेमी समाता है उसी क्षण तत्क्षण परमात्मा भी प्रेमी में समा जाता है और जब परमात्मा तुम पर बरसेगा तो गाओगे नहीं नाचोगे नहीं उत्सव न मनाओगे रसो वैसा की ध्वनि तुम्हारे भीतर न उठेगी मस्त न हो जाओगे मस्ती उस मस्ती की अभिव्यक्ति ही काव्य है सभी कवि कवि नहीं है जब तक कोई ऋषि ना हो तब तक कविता तो बस कला है जब कोई ऋषि हो जाए तो कविता जीवन है तुम्हारी श्वास तुम्हारी धड़कन मेरा सन्यासी ऋषि होने के मार्ग पर है बीच में कविता का पड़ाव आएगा वहां रुकना भी नहीं क्योंकि बहुत कविता पर रुक जाते हैं कविता प्रीतिकर है सुंदर है लुभावनी है सपने जैसी है मधुर है पर और आगे जाना है कविता पड़ाव है जब तक ऋषि होना न घट जाए जब तक सौंदर्य ओतप्रोत ना कर ले फूल सुंदर दिखाई पड़े तो कविता जब कांटे भी सुंदर दिखाई पड़ने लगे तो ऋषि का जन्म हुआ है जीवन सुंदर दिखाई पड़े कविता जब मृत्यु भी अपूर्व सौंदर्य में प्रकट होने लगे तो ऋषि का जन्म हुआ कविता पड़ाव है कवि का पड़ाव बीच में आएगा प्रीतिकर है पड़ाव ठहरना दो क्षण वहां रात विश्राम करना लेकिन याद रखना सुबह हुई और चल पड़ना वहां रुक नहीं जाना जब तक दृष्टा न हो जाओ जब तक तुम सौंदर्य को ही न देख लो देखना भी कहना ठीक नहीं पी ही ना लो पीना भी कहना ठीक नहीं जब तक तुम सौंदर्य ही ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं है चलते जाना है चरे बेची चरे बेची बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं से चलते ही चलो चलते ही चलो तब तक चलते रहो जब तक चलने वाला बचे जब तक थोड़ा सा भी मैं भाव बचे चलते रहो चलते रहो धीरे धीरे गल जाएगा मैं जिस दिन मैं न रहेगा उस दिन परमात्मा उस दिन परम काव्य का अनुभव होगा ठीक हुआ अमृता कि मेरा आना तेरी जिंदगी में काव्य का आगमन भी बन गया है और बहुत कुछ होगा आंखें जो सूखी थी गीली हो जाएंगी अभी कल ही तो तुझे विदा देते समय तेरी आंखों को गौर से देखा है अमृता ऐसे तो भारतीय है लेकिन रहती अमेरिका में जाना है वापस उसे तेरी आंखों में टपकते हुए आंसू देखे तेरी आर्द्र आंखें देखी वे आंसू आनंद के थे विरह की भी और मिलन की भी पीड़ा भी उनमें थी प्यास भी उनमें थी धन्यवाद अनुग्रह का भाव भी उनमें था अब तो केवल शरीर की तरह ही दूर जाएगी अब आत्मा की तरफ से दूर जाने का कोई उपाय नहीं और शरीर की दूरी कोई दूरी नहीं दूरी तो बस आत्मा की होती है लोगों के शरीर पास बैठे होते और आत्मा है कोसों दूर शरीर कितने ही दूर हो आत्माएं पास हो सत्संग चलता रहेगा रुकेगा नहीं तू जहां रहेगी वहीं चलता रहेगा कभी कोयल की पुकार में तुझे मेरी आवाज सुनाई पड़ने लगेगी और कभी वृक्षों से गुजरती हुई हवा की ध्वनि और तू मुझे सुन पाएगी और झरनों का कलकल नाथ और आकाश में घिर गए मेघ और सुबह उगा चांद डूबा चांद सुबह उगा सूरज न मालूम कितने रूपों में ये घटने लगेगा काव्य का जन्म हो जाए आंख खुलने लगती पदार्थ तिरोहित होने लगता है पदार्थ में छिपे हुए अर्थ प्रकट होने लगते हैं स्थूल विदा होने लगता है सूक्ष्म उभरने लगता है ये होगा ये होना निश्चित है ये तेरी आंखों में झांक के मैं तुझसे कहता हूं ये आश्वासन है तूने पूछा कल आपने कहा होश से रहना चूक मत जाना तो आप ही बताएं कि अब क्या होगा जब इतनी पिला दी तो होश में आने को क्यों कहते हो एक होश है जो संभल संभल के बांध बांध के रखना पड़ता है वह बहुत मूल्यवान नहीं है उसकी बड़ी कीमत नहीं वह बौद्धिक ही है एक और भी होश है जो नाचता है शराबी की तरह डगमगाता है एक और भी होश है जो बेहोशी के विपरीत नहीं है जो इतना बड़ा है कि बेहोशी को भी पी जाता है और आत्मसात कर लेता है मैं वही होश सिखाना चाहता हूं अगर होश हो और उसमें बेहोशी की रसधार न बहे मस्ती गुनगुनाती ना हो गीत ना गाती हो तो होश तुम्हें मरुस्थल बना देगा इस तरह की दुर्घटना घटी जैन बौद्ध साधकों के जीवन में ऐसी दुर्घटना घट गई इतिहास उससे भली भांति परिचित वह भूल दोबारा नहीं दोहरानी होश साधने की चेष्टा में उन्होंने इतने नियम इतनी व्यवस्थाएं इतनी मर्यादाएं निर्धारित कर ली कि होश तो सदा लेकिन साथ ही वे मरुस्थल हो गए सब हरियाली विदा हो गई वसंत का आगमन बंद हो गया सब पत्ते सूख गए और गिर गए इसलिए तो जैनों और बौद्धों के पास उपनिषद जैसा काव्य नहीं कुरान जैसी आयतें नहीं कारण है सुख है सब हिसाब किताब दो दो चार जैसी साफ बात है उलझाव नहीं है सीधी और साफ बात है दो टूक बात है लेकिन सूखी लकड़ी जैसी जिसमें पत्ते नहीं उगते और फूल भी नहीं लगते मधुमक्खियां जिसके पास गुनगुन नहीं करती और तितलियां कभी पर नहीं फड़कती चांद उगे तो सूरज उगे तो सूखी लकड़ी सूखी रही आती न कभी चांद उगता न कभी चांदनी होती न कभी सूरज उगता न दिन न रात सब ठहर गया मरघट जैसा एक सन्नाटा हो गया जैन और बौद्ध परंपरा में ये दुर्घटना घटी शायद घटनी अनिवार्य थी प्राथमिक अन्वेषक थे वे लोग और उन्होंने देखा कि बेहोशी और होश साथ कैसे चलेंगे भक्त की मस्ती और ध्यानी का होश एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए ध्यानी के होश ने भक्त के मस्ती की निंदा की कहा कि यह भी राग है कहा यह भी मोह है ममता है प्रेम है और प्रेम तो तोड़ना है पूरी तरह तोड़ना है तभी तो संसार से मुक्ति होगी प्रेम से मुक्ति उनके लिए संसार से मुक्ति की पर्यायवाची हो गई और उन्होंने तोड़ा बड़ी मेहनत की सारे संबंध तोड़ डाले सारी जड़ें खाल ली अस्तित्व से लेकिन सूख गए फिर फिर वसंत ना आया और भक्तों ने भी कोशिश की है मस्ती तो रही बेहोशी भी रही उनकी आंखों में खुमार भी रहा गीत भी उठे लेकिन होश का दिया नहीं जला होश की रोशनी नहीं हुई तो भक्त जैसे सूफी फकीर शराब की बात करते करते धीरे धीरे शराब ही पीने लगी शराब की बात तो ठीक थी शराब का प्रतीक भी ठीक था शराब ठीक ठीक इशारा है परमात्मा की तरफ मस्त होने का मग्न होने का मधुशाला ही मंदिर है भक्त के लिए लेकिन ये प्रतीक जल्दी प्रतीक न रहा हम प्रतीकों को पकड़ लेते फिर शराब ही पीने लगे लोग मेरे एक परिचित थे ऐसी भूल में न पड़ते तो अभी भी जीवित होते और शायद भारत के श्रेष्ठतम कवियों में एक होते केशव पाठक उनका नाम था हिंदी में बहुत लोगों ने उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद किए बड़े बड़े कवियों ने भी प्रयोग किए पंत ने बच्चन ने छोटे छोटे कवियों ने भी प्रयत्न किए मैं समझता हूं कम से कम 200 अनुवाद उपलब्ध थे लेकिन केशव पाठक ने जैसा अनुवाद किया वैसा किसी ने भी नहीं किया पंत और बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया है केशव पाठक का अनुवाद उमर खयाम की ठीक आत्मा को छू लेता है अंग्रेजी में भी फिट्जराल्ड का जो अनुवाद है वो केशव पाठक से थोड़ा पीछे पड़ जाता है लेकिन केशव पाठक के साथ वही हुआ है जो ध्यानहीन आदमी के साथ हो सकता है उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करते करते वो शराबी हो गए वो इतना पीने लगे कि पीने के कारण ही मरे उमर खयाम आशीर्वाद हो सकता था अभी साफ हो गया और ये जान के तुम चकित होगे उमर खयाम ने कभी शराब पी नहीं यद्यपि अब तो उमर खयाम के नाम से शराब घरों के नाम उमर खयाम समझा जाता है कि शराबियों का सरताज है उसने कभी शराब छुई नहीं वो किसी और ही शराब की बात कर रहा है वो परमात्मा को पीने की बात कर रहा है वो जब साकी की बात करता है तो वो परमात्मा की बात कर रहा है और जब वो शराब की बात करता है तो परमात्मा से बहते हुए आनंद की बात करता है रसो वैसा वो उस रस की बात कर रहा है रस का नाम ही शराब तो वहां भूल हुई कुछ लोग सूख गए और यहां भूल हुई कि कुछ लोगों ने समझा कि बस शराब पी ली तो पहुंच गए शराब पी के लड़खड़ाए तो क्या खाक लड़खड़ाए कोई भी लड़खड़ाएगा पिएगा तो बिना पिए लड़खड़ाए तो लड़खड़ाए बिना पिए मस्त हुए तो पिए तो तुमने कुछ अपूर्व अनुभव किया अमृता मैं उसी पीने की तरफ इशारा कर रहा हूं अंगूर की शराब नहीं आत्मा में ढलती है जो भीतर ही खिंचती है जो इसलिए मेरे सन्यासी को ध्यान का बोध चाहिए और भक्त की मस्ती चाहिए एक अभिनव प्रयोग हम कर रहे हैं जो कभी नहीं किया गया ध्यानी हुए भक्त हुए ध्यानी सूख गए और उनके सूखने का परिणाम हुआ कि जहां जहां उनकी छाया पड़ी वहां वहां भी सब सूख गया ये देश उनके कारण सूख गया और भक्त हुए जिनने आंसू बहाए जिन्होंने पैरों में घूंगर बांधे जिन्होंने शराब पी और नाचे जहां जहां वो नाचे वहां वहां हरियाली तो रही बस लेकिन हरियाली ही रही उसमें आत्मा नहीं उसमें आत्मबोध नहीं मैं प्रयोग कर रहा हूं यहां कि किसी तरह महावीर और मीरा का मिलन हो जाए कि किसी तरह महावीर नाच सके और किसी तरह मीरा ध्यान कर सके इसलिए अड़चन तो होगी मीरा के मानने वाले भी मुझसे नाराज होंगे महावीर के मानने वाले भी मुझसे नाराज होंगे उमर खयाम को बुद्ध को मिलाने की कोशिश खतरनाक कोशिश है बुद्ध को मानने वाले कहेंगे कि ये नाजायज प्रयास है उमर खयाम को कहां बुद्ध में लाते हो मैं बुद्ध पर बोल रहा था तो मैंने बहुत सी शराब के सम्मान में लिखी गई कविताओं का उद्धरण दिया है तो योग चिन्ह ने पूछा था प्रश्न क्या आप बुद्ध के साथ और शराब की इन कविताओं को क्यों उद्धृत कर रहे हैं बुद्ध से इनका क्या लेना देना और चिन्मय का प्रश्न ठीक है सम्यक है नहीं रहा लेना देना अतीत में नहीं रहा भविष्य में लेना देना करना है सेतु बनाना है इसलिए भक्तों पर बोलता हूं और ध्यान को समझाता हूं ध्यानियों पर बोलता हूं और प्रेम को समझाता हूं हिसाब किताब से जीने वाले लोगों को लगता है मैं सब गड्ढ किए दे रहा हूं नहीं ये समन्वय का एक प्रयोग हो रहा है क्योंकि दोनों प्रयोग अधूरे थे और दोनों प्रयोग हार गए और दोनों प्रयोग पृथ्वी को स्वर्ग नहीं बना पाए अमृता इसलिए मैं जिस होश की बात कर रहा हूं वह बेहोशी के विपरीत नहीं मैं जिस बेहोशी की बात कर रहा हूं वह होश के विपरीत नहीं भाषा में तो विपरीत मालूम होते मैं क्या करूं भाषा में बनाता नहीं भाषा तैयार है भाषा सदिये बना गई है भाषा पर अतीत की छाप है अब दो ही उपाय हैं या तो मैं उसी भाषा को उपयोग करूं जिसे तुम समझते हो तो भी कहां समझ पाते हो और या फिर नई भाषा गढ़ू जो कि तुम बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे अभी कम से कम समझने का भ्रम होता है पुराने परिचित शब्द सुनते हो तो कम से कम भ्रांति तो होती कि समझे लेकिन अगर मैं नई भाषा ही गढ़ू तो कौन समझेगा ऐसे प्रयोग हुए सूफी फकीर हुआ जब्बार अंग्रेजी में शब्द है जिबेरिस वो शब्द जब्बार से बना जब्बार पहुंचा हुआ संत सिद्ध पुरुष उसने सोचा कि पुरानी भाषा का उपयोग करो लोग गलती समझ लेते हम कुछ कहते हैं वो कुछ समझ लेते जैसे कि बेहोशी की बात करो तो वो समझते हैं होश के विपरीत होश की बात करो वो समझते हैं बेहोशी के विपरीत तो जब्बार ने कहा कि हम नई भाषा ही गढ़ेंगे तो उसने नई भाषा गढ़ ली उसकी भाषा कौन समझे उसकी भाषा को लोग पागलपन समझे उसकी भाषा को वो ही समझता था खुद के भीतर गढ़ी तुम भी गढ़ सकते हो कोई भी गढ़ सकता है छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी प्रयोग करते चूंकि उसकी भाषा को कोई नहीं समझता था इसलिए अंग्रेजी में बकवास को जिब्रिस कहते जिसको कोई समझ ना सके जैसे छोटे बच्चे अल्लबल्ल बकते या सन्निपात में लोग बकते अद्भुत सिद्ध पुरुष जब्बार और उसकी भाषा का ये परिणाम हुआ तो मुझे बोलनी तो वही भाषा पड़ेगी जो तुम समझते हो लेकिन तब एक ही उपाय है कि तुम्हारी ही भाषा का उपयोग करूं और इस ढंग से करूं कि उसमें नए अर्थ लगा दू नई अर्थ की कल में लगा दू दो आदमी आपस में लड़ रहे थे दोनों गाली गलौज करने लगे पहला बोला साले मैं एक मुक्के में तेरे बत्तीस दांत बाहर कर दूंगा दूसरा गुस्से से बोला मैं तेरे चौसठ दांत बाहर कर दूंगा मुझे क्या समझता है तीसरा आदमी जो इन दोनों का झगड़ा देख रहा था बोला दांत तो बत्तीस ही होते तुम चौसठ दांत कैसे बाहर निकालोगे दूसरा आदमी बोला कि मुझे पता था कि तुम बीच में जरूर बोलोगे इसलिए बत्तीस दांत इस आदमी के और बत्तीस दांत तुम्हारे लोगों के अपने समझने के ढंग लोगों की अपनी व्यवस्थाएं एक कहानी और कल मैंने देखी मुक्केबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी कड़ा मुकाबला था दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे दर्शक स्तब्ध होकर यह जंगी मुकाबला देख रहे थे सभी शांत थे मगर मुल्ला नसुद्दीन रह रहकर बीच बीच में आवाज लगा रहा था मार एक मुक्का मुंह में निकाल दे पूरे बत्तीस दांत बाहर मार एक मुक्का मुंह में झाड़ दे पूरी बत्तीस वह शांत ही ना हो रहा था आखिर एक व्यक्ति से ना रहा गया उसने कहा भाई साहब क्या आप भी कोई बड़े पहलवान हैं जो इस प्रकार की जोश की बातें कर रहे हैं कि मार एक मुक्का मुंह में कर दे पूरे बत्तीस दांत बाहर मुल्ला बोला जी नहीं मैं कोई पहलवान महलवान नहीं मैं तो दांतों का डॉक्टर हूं और ये मेरे धंधे का सवाल है लोग अपने ढंग से ही समझेंगे अपने ही न्यस्त स्वार्थ है अपने पक्षपात है अपनी पुरानी धारणाएं अपने धंधे लेकिन मैं अर्थों को नए शब्द दे रहा हूं शब्दों को नए अर्थ दे रहा हूं तुम्हें मेरे साथ बहुत सोच समझ के चलना होगा तुम जल्दी निष्कर्ष ना लेना जल्दी निष्कर्ष में भूल चूक होने का, का डर है अमृता जब मैं कहता हूं होश तो उस होश में बेहोशी की रसधार बहनी होश क्या जिसमें बेहोश होने की क्षमता ना हो होश क्या जो नाच ना सके होश क्या जो मदमस्त ना हो सके होश क्या जो होली में गुलाल ना उड़ा सके दिवाली में दिए ना जला सके पैरों में घूंगर ना बांध सके बांसुरी ना बजा सके होश क्या जिसमें खुमारी ना हो होश क्या जो शराब को मात ना कर दे और बेहोशी क्या जिसमें होश का दिया ना जलता हो होश का फूल ना खिला हो होश की सुगंध ना उठती हो बेहोशी क्या जिसमें होश का माधुरी और प्रसाद ना हो ये दोनों जहां मिलते वहां एक अपूर्व संगम पैदा होता है उस संगम को ही मैं सन्यास कहता हूं अमृता तू ऐसी ही सन्यासीन हो ऐसे ही प्रत्येक सन्यासी को होना है तू कहती है जब इतनी पिला दी तो होश में आने को कहते हो इसलिए तो कहता हूं इतनी पिला दी इसलिए कहता हूं कि अब कहीं बेहोशी ही न रह जाए नहीं तो आधा हो गया काम आधे का क्या होगा इसलिए विपसना जो कर रहा है उसे एक न एक दिन कहता हूं कि जाओ और सूफी नृत्य में सम्मिलित हो जाओ जो सूफी नृत्य कर रहा है उससे एक न एक दिन कहता हूं कि अब विपसना करो तुम जान के हैरान होगे कि इस परिवार में सन्यासियों के इस परिवार में सूफी नृत्य को जो सन्यासीन मार्गदर्शन देती है वह मौलिक रूप से विपसना के योग्य तात्विक रूप से उसका व्यक्तित्व विपसना के योग्य है अनिता और जो विपसना में मार्गदर्शन करती प्रदीपा उसका व्यक्तित्व सूफियों का है और दोनों चकित कि उनको मैंने क्यों ये काम दिया है विपसना दिया है उसको मार्गदर्शन करने को जिसका मौलिक रूप सूफी का है और सूफी नृत्य दिया है उसे जिसका रस विपसना की तरफ है जान के क्योंकि इन दोनों को कहीं जोड़ना है सूफियों को विपसना देनी है बौद्धों को सूफियों का रस देना है तुम्हारी ये क्षमता होनी चाहिए कि तुम्हारे भीतर विरोधाभास आके मिल जाएं, एक हो जाएं, अपना विरोधाभास खो दें तुम्हारी ये क्षमता होनी चाहिए कि शांत बैठो तो बुद्धि की शांति और नाचो तो मीरा का नृत्य न तो मीरा के नृत्य में कंजूसी करनी पड़े बुद्ध के कारण न बुद्ध के मौन में कंजूसी करनी पड़े मीरा के कारण जब तुम इन दो अतियों के बीच सुगमता से डोल सको जैसे घड़ी का पेंडुलम डोलता है जैसे सावन में झूले डोलते हैं जब इन दो अतियों के बीच तुम सावन का झूला बन जाओ तब जानना कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण मनुष्य का आविर्भाव हुआ अब तक पूर्ण मनुष्य जमीन पर पैदा नहीं हो सका है अभी तक आंशिक मनुष्य पैदा हुए क्योंकि हमने अंश को बहुत मूल्य दे दिया और अंश को ही पूर्ण मान लिया अंश ही इतने बड़े हैं कि लोग उनसे ही त्र तृप्त हो जाते मैं तुम्हें ऐसी अतृप्ति देना चाहता हूं कि तुम अंश से नहीं अंशी से ही तृप्त होना पूर्ण को उपाय बिना नहीं रुकना है चले चलो चले चलो तुम बेहोश होने लगोगे तो झकझोरूंगा और कहूंगा कि होश में आओ और तुम ज्यादा होश में आने लगोगे तो धक्का दूंगा और कहूंगा कि जरा डोलो नाचो एकदम होश में ही आके सूख मत जाओ जरा कल्पना करो इन दोनों के मध्य नाचते हुए शून्य की गीत गाते हुए मौन की तब तुम्हारे भीतर परमात्मा अपना सारा रस और सारी ज्योति उंडेल देगा तब उसका रस ज्योतिर्मय होगा तूने पूछा बैठे हैं राह गुजर पे तेरी सांस थाम के मधोस गिर गए हम तेरे जाम से ये गिर जाना गिर जाना नहीं है ये गिर जाना उठ जाना है लड़खड़ाऊ उठ न सकू जो उठू कभी पहुंचेंगे जाने कैसे हबीब तेरे धाम पे जो गिर गए मस्ती में होश में जो रुक गए मस्ती में होश में जो ठहर गए मस्ती में होश में पहुंच गए प्यारे के द्वार पर अब चलना कहा उठना कहा परमात्मा दूर नहीं है तुम जागरूक भाव से मौन भाव से यही नाचो परमात्मा यही है अभी है परमात्मा कहीं और नहीं है तुम जहां हो वहीं है न काशी जाओ न काबा ना समझ जाते हैं काशी और काबा समझदारों के पास काबा और काशी आ जाते सूफी फकीर बाजीद बिस्तामी ने तीन बार काबा की यात्रा की लोग सोचते थे कि शायद अब चौथी बार भी करेगा लेकिन वर्षों बीत गए और बाजीर ने बात ही ना उठाई उसके भक्तों में कई दफा सवाल उठा कि अब कब होगी चौथी यात्रा क्योंकि जितनी यात्रा उतना पुण्य आखिर एक दिन भक्तों से नारा आ गया कई नए भक्त थे जो पुरानी यात्राओं में समृद्धि नहीं हुए थे उन्होंने कहा हमारा भी कुछ ख्याल करें कि आप हज को भूल ही गए काबा की अब याद ही नहीं करते पहले तो तीन यात्राएं की अब क्या हुआ और बाजीद कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता था काबा से इसलिए यात्रा आसान थी यात्रा कभी भी की जा सकती थी बाजीद ने कहा अब तुमने पूछ ही लिया तो मुझे सच कहना ही पड़ेगा पहली दफा गया तो काबा दिखाई पड़ा दूसरी बार गया तो काबा का मालिक दिखाई पड़ा और तीसरी बार गया तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ा न काबा न काबा का मालिक शून्य निराकार तब से तो मैं जहां हूं वही निराकार है तब से तो मैं जहां हूं वही काबा है वही काबा का मालिक है एक और कहानी बायजीत के संबंध में प्रसिद्ध है बैठा है एक वृक्ष के नीचे और एक आदमी काबा की यात्रा पर जा रहा है जिंदगी भर इकट्ठा किया है पैसा की काबा की यात्रा करनी गरीब आदमी है बा मुश्किल कुछ पैसे इकट्ठे करके चल पड़ा है थक गया तो वो भी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा धूप घनी है रेगिस्तानी रास्ता है बाजिद वहां बैठा हुआ है उस यात्री ने पूछा कि आप भी विश्राम कर रहे हैं शायद काबा जा रहे होंगे बायजीत हंसने लगा उसने कहा क्या तुम काबा जा रहे हो नाहक मैं तीन दफे हो आया अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं मैं तुमसे कह देता हूं पहली दफा गया काबा देखा दूसरी दफा गया काबा का मालिक देखा तीसरी दफा गया कुछ भी नहीं देखा सन्नाटा शून्य तुम्हें जाने की जरूरत नहीं तुम तो मेरे तीन चक्कर लगा लो और घर वापस जाओ हज हो गई और पैसे निकालो फिजूल खर्चा करोगे फकीर के काम आ जाएंगे बाजीब का ये ढंग और जिस ढंग से उसने कहा कि पैसे निकालो वो आदमी न रोक सका अपने को पैसे निकालना पड़े कुछ लोग होते हैं जो कहें कि निकालो पैसे तो क्या करोगे जैसे कि अमृता में तुझसे तो कहूं निकाल पैसे तो क्या उपाय और तू जा रही हो काबा या काशी की यात्रा पर मैं कहूं लगा तीन चक्कर मेरे बात खत्म अब कहीं जाने की जरूरत नहीं उस आदमी को भी बात जची ये आदमी जिस प्रेम और जिस आनंद में डूबा हुआ दिखाई पड़ा इसकी आंखों में झांका पैसे इसके चरणों पर रख दिए तीन चक्कर लगाए घर वापस लौट गया और कहते हैं कि वो आदमी इसके तीन चक्कर लगाने में ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए परमात्मा कहीं दूर थोड़ी है उठना थोड़ी है लड़खड़ाऊ उठ ना सकू जो उठूं कभी पहुंचेंगे जाने कैसे अभी तेरे धाम पे उसका धाम तो यहां है तुम जहां हो उसी में तो तुम्हारे हृदय की धड़कन है उसी में तो तुम्हारी श्वासें चल रही है वही तो तुम्हारे प्राणों का प्राण है और पूछा तूने महबूब तू बता तेरी क्या है अब रजा पैसे निकाल तीन चक्कर लगा और क्या अब तू बता कि होश में आए तो किस लिए पाया खुदा भी पीता हुआ तेरे जाम से अब जरूरत ही नहीं है उस होश की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अब तो किसी और होश की बात कर रहा हूं जो बेहोशी के भी पार है जो बेहोशी से भी ज्यादा बेहोश है अब तो मैं उस मस्ती की बात कर रहा हूं जिस मस्ती से नीचे गिरना होता ही नहीं ऊपर ही चढ़ना होता है और और मंजिलें लेकिन वे सब अब आंतरिक हैं संन्यास्त हो जाने के बाद यात्रा आंतरिक है अंतर यात्रा है और पैसे की चिंता में मत पड़ना मुझे कोई जरूरत नहीं और मेरे तीन चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं है बाजी ने भी नाहक मेहनत करवाई इतनी कह देता कि मेरी आंख में झांक ले बात हो जाती इतना ही कह देता मेरे पास बैठ जा बात हो जाती इस सत्संग में डूबो लड़खड़ाओ गाओ मस्त हो जाओ और आएगा एक होश और ऐसा होश नहीं जो मरुस्थल का होता है ऐसा होश जहां फूल खिलते हैं पक्षी गीत गाते हैं जहां कमल मुस्कुराते होश ऐसा जिसमें बेहोशी का काव्य होगा बेहोशी ऐसी जिसमें होश का दिया जले यह दोनों बातें एक साथ हो सकती और अमृता कुछ हो रहा है अगर चलती रही इसी राह पर जो राह मिल गई जो राह तेरे हाथ आ गई तो पहुंचना सुनिश्चित है एक बात पक्की है कि अमेरिका लौट के तुझे ये न कहना पड़ेगा दूर से आए थे साकी सुन के मैं खाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम नहीं तुझे ऐसा नहीं कहना पड़ेगा तू तरसती नहीं जा रही तू पी के जा रही हालांकि पीने से और प्यास बढ़ती है और एक नई तड़प पैदा होती है वह दूसरी बात एक प्यास तो है बिना पिए आदमी की और एक प्यास है जिसने पिया उसकी दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता है लगा दें आग मैखाने को हम हमको फंसना था कफस में क्या गिला सयाद का बस तरसते ही चले हैं आब और दाने को हम बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल अब कहा ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नजीर ताकि सादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम नहीं ऐसा तुझे न कहना पड़ेगा तू घूट लेकर जा रही है तू धन्य भागी बहुत लोग आते बहुत थोड़े से लोग स्वाद ले पाते बहुत लोग सुनते बहुत थोड़े से लोग सुन पाते क्योंकि सुनने के लिए गर्दन को तो काट के अलग ही रख देना पड़ता है सिर को तो अलग ही कर देना होता है हृदय से ही सुना जा सकता है ऐसा ही तूने सुना स्वाद तुझे लगा है ये बढ़ता जाएगा ये बढ़ता रहेगा ये आग बुझने वाली नहीं है तो आनंद विभोर जा कृतज्ञ भाव से जा और तू जहां भी रहेगी मैं तुझ पे बरसता ही रहूंगा साकी से अब मिलना हो गया है अब साकी से बिछुड़ना नहीं हो सकता इस रास्ते पर मिलन ही है विरह नहीं है विरह भी बस मिलन की एक तैयारी एक सीढ़ी दूसरा प्रश्न भगवान मैं तो अब वृद्ध हो गया हूं क्या अभी भी संभव है कि समाधि को पा सकूं रामकृष्ण समाधि का कोई संबंध समय से नहीं है समयातीत है समाधि देह बच्चे की है कि जवान की कि बूढ़े की अप्रासंगिक है आत्मा तो सदा वही की वही है बच्चे के पास भी वही जवान के पास भी वही बूढ़े के पास भी वही आत्मा की कोई उम्र नहीं होती आत्मा शाश्वत है उसकी उम्र कैसे हो सकती है न उसका कोई जन्म है और न कोई मृत्यु तो कैसा बुढ़ापा और कैसी जवानी इसीलिए तो एक चौंकाने वाली बात अनुभव होती जरा आंख बंद करके सोचो कि मेरे भीतर की उम्र कितनी और तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कुछ तय नहीं होगा भीतर की कोई उम्र होती ही नहीं उम्र बाहर ही बाहर की होती उम्र वस्त्रों की होती तुम्हारी नहीं देह बस वस्त्र मात्र इसलिए चिंतित मत हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो समाधि को पा सकूंगा या नहीं संभावना तो इसकी है कि तुम पा सकोगे जवानी में तो बड़े तूफान होते बुढ़ापे में तो तूफान धीरे धीरे अपने आप शांत हो गए होते तूफान शांत हो गए हैं इसलिए तो तुम्हारे मन में सन्यास का भाव जगा तूफानों से उब गए हो बहुत देख लिए जो देखना था जिंदगी में सब देख लिया अब देखने को बचा भी क्या है अब तो देखने को सिर्फ परमात्मा बचा है अब तो आंख एकाग्र होकर परमात्मा की तरफ चल सकती हर परिस्थिति के लाभ हैं हर परिस्थिति की हानियां हैं याद रखना समझदार आदमी हर परिस्थिति से लाभ उठा लेता है ना समझ हर परिस्थिति से हानि उठा लेता है जवानी का एक लाभ है ऊर्जा अपार ऊर्जा गहन श्रम करने की सामर्थ्य आकाश छूने की आकांक्षा सपने देखने का साहस दुस्साहस वो जवानी का लाभ है अगर उस तरंग पर चढ़ जाओ तो समाधि तक पहुंच जाओ लेकिन कितने जवान उसका लाभ उठा पाते चढ़ते तो हैं तरंग पर लेकिन वो तरंग उन्हें बाजार की तरफ ले जाती धन की तरफ पद की तरफ प्रतिष्ठा की तरफ वो तरंग उन्हें राजनीति में ले जाती वो तरंग उन्हें क्षुद्र और क्षणभंगुर में ले जाती ऊर्जा तो है लेकिन मटकी फूटी फूटी छेदों से सब ऊर्जा बह जाती चार दिन को हो भले ही आज तो मुझ में जवानी आज सांसों में प्रभंजन आज आहों में बबंडर आज अंतर में हिलोरें आज आंखों में समुंदर दूर हो सम्मुख ना आओ यह प्रलय की ही निशानी आज तो मुझ में जवानी सिंधु मंथन सा हृदय में गिर रही है गाज ऐसी इस प्रहर में इस घड़ी में मान कैसा लाज कैसी आज तो दो एक होंगे अब कहा अपनी वीरानी आज मुझ में आज तो मुझ में जवानी सुधी न तन मन की मुझे कुछ बढ़ रहा हूं बुझ पसारे चल रहा हूं चल रहे हैं जिस तरह रविशत सितारे और पहुंचूंगा कहां पर यह भविष्य की कहानी आज तो मुझ में जवानी आज दो लोचन किसी के दे रहे मुझको निमंत्रण आज यौवन पर हृदय पर है कठिन करना नियंत्रण आज सारा तर्क भूला आज सारा ज्ञान पानी आज तो मुझ में जवानी आज तो इतनी पिए हूँ डगमगाते पांव मेरे हर डगर पर हर कदम पर बिछ गए हैं भाव मेरे एक मैं हूँ दूसरी तुम तीसरी आशा दीवानी आज तो मुझ में जवानी जीन यह तरणी तुम्हारी क्या मुझे देगी सहारा हाय यौवन ज्वार में है सूझता किसको किनारा तोड़ दो यह डांड मांझी फोड़ दो नौका पुरानी आज तो मुझ में जवानी युवावस्था का एक सौभाग्य है मगर सौ में से शायद एक आधी उसे सौभाग्य बना पाता निन्यानबे तो दुर्भाग्य बना देते जीन यह तरणी तुम्हारी क्या मुझे देगी सहारा हाय यौवन ज्वार में है सूझता किसको किनारा तोड़ दो यह दांड मांझी फोड़ दो नौका पुरानी आज तो मुझ में जवानी जिंदगी विक्षिप्त हो जाती जवानी में लोग पागल की तरह जीते होश खोकर जीते सोचते हैं चार दिन की जवानी आज है कल तो नहीं होगी कर लें जो करना है भोग लें जो भोगना है पी लें पिला लें जी लें जिला लें फिर तो मौत है तो लोग एक त्वरा से जीते मगर जीते क्या है सिर्फ जीवन गमाते हाँ कोई बुद्ध ठीक युवावस्था में समाधि की तरफ चल पड़ता है बस लेकिन कोई बुद्ध कभी कभी अंगुलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग इतिहास में इतने कम हुए जिन्होंने युवावस्था के ज्वार का उपयोग कर लिया जिन्होंने युवावस्था की ऊर्जा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया तब तो बड़ा अद्भुत है क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति होती शक्ति से कुछ भी हो सकता है विनाश हो सकता है सृजन हो सकता है ऐसे ही बुढ़ापे के भी लाभ हैं और हानियां है। हानि है क्योंकि देह कमजोर हो गई तो तुम उदास बैठ जाओ हताश बैठ जाओ क्योंकि अब तो मौत ही होनी और क्या होना है तो तुम मरने के पहले मरे मरे हो जाओ ये हानि कि तुम देह के साथ इतना तादात्म कर लो कि देह की शक्ति होती क्षीण समझो कि मेरी ही जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही कि मैं ही मर रहा हूं और लाभ भी है बुढ़ापे के जिंदगी देख चुके तूफान देख चुके आंधियां देख चुके सब देख लिया सब व्यर्थ पाया अब एक शांति अपने आप सघन होने लगी तूफान जा चुका तूफान के बाद की शांति सघन होने लगी संध्या आ गई दोपहरी की धूप कट गई अब सांझ की शीतलता आने लगी इसका उपयोग कर लो तो यही शीतलता यही शांति समाधि का द्वार बन जाए नज्म से दिन गजल सी रातें कहा हैं अब कहा हैं रंगीन अगवानी बंद है ग्यारह बजे के बाद जैसे नलों में पानी कह कहूं सी मस्त बरसाते कहा हैं अब खा गया यह वक्त भूखा फूल पत्ती को पास का अलगाव घर की भरी खत्ती को सरल शब्दों में तरल बातें कहा हैं अब नज्म से दिन गजल सी रातें कहा है अब सब बीत गया बाढ़ आई और गई बाढ़ सब ले गई अब बचा भी क्या है इस क्षण में परमात्मा की तरफ मुड़ जाना एकदम आसान है क्योंकि संसार का कोई लगाव अब सार्थक नहीं देख तो लिया जो छुआ वही मिट्टी हो गया जहां गए वही अंधकार पाया जो पाया वही व्यर्थ था जब तक नहीं पाया तब तक सार्थक मालूम पड़ा यह दुनिया जादू का अजब खिलौना है मिल जाए तो मिट्टी खो जाए तो सोना है जो भी मिला मिट्टी हो गया और जो भी नहीं मिला उसमें आशा अटकी रही आंखें अटकी रही मगर इतना पाने और गमाने के बाद समझ में नहीं आता कि दूर के ढोल सुहावने मृग मरीचिकाएं इतनी भागदौड़ के बाद दिखाई नहीं पड़ता कस्तूरी कुंडल बसे कि अपने ही कुंडल में कि कहीं अपने ही भीतर छिपा है रहस्य और हम बाहर दौड़ते दौड़ते व्यर्थ थक गए जरूर अगर बाहर दौड़ना हो तो बुढ़ापा मुश्किल देगा लेकिन बाहर दौड़ना नहीं है बाहर क्या दौड़ना ही नहीं है समाधि तो रुक जाने का नाम है ठहर जाने का नाम है फिर हो जाने का नाम है पड़े पड़े समाधि हो जाएगी बैठे बैठे समाधि हो जाएगी शरीर दौड़ के थक चुका है अब मन को भी कह दो कि तू भी थक अब तू भी रुक अब शरीर और मन दोनों की दौड़ को जाने दो घिर जाए सन्नाटा हो जाओ शून्य रामकृष्ण समाधि घट जाएगी समाधि स्वभाव है चुप होते ही स्वभाव का अनुभव होने लगता है शोरगुल बुद्धि का विचार का बंद होते ही स्वभाव की अनुभूति होने लगती है फिर जवानी और बुढ़ापा ख्याल की बातें ऐसे जवान हैं जो जवानी में बूढ़े और ऐसे बूढ़े जो बुढ़ापे में जवान है जवानी और बुढ़ापा शरीर की कम मन की ज्यादा अवस्थाएं बुढ़ापे या जवानी के लिए अंगुली के पोरों पर आयु को बरसों को सिर के श्वेत केसों को चेहरे की झुर्रियों को या मुंह के गिरे दांतों को मत गिनो यौवन का गणित ऐसे नहीं गिना जाता जवानी और बुढ़ापा तन का नहीं मन का है और मन का गणित ऐसे नहीं गिना जाता और अगर समाधि पाने की आतुरता भी शेष है तो भीतर तुम युवा हो भीतर तो तुम सदा युवा हो इसलिए तुमने गौर नहीं किया हमने महावीर की बुद्ध की कृष्ण की राम की किसी की भी बुढ़ापे की प्रतिमा नहीं बनाई क्या तुम सोचते हो ये लोग बूढ़े नहीं हुए क्या तुम सोचते हो सब लोग जवान ही मर गए बुद्ध तो अस्सी साल के होके मरे जरूर जरा जीर्ण हो गए होंगे महावीर भी अस्सी के पार होके मरे जरूर जरा जीर्ण हो गए होंगे नहीं तो मरते ही कैसे आखिर मरने के पहला बुढ़ापा अनिवार्य कदम कृष्ण भी अस्सी के बाद मरे लेकिन हमने इनकी सबकी प्रतिमाएं बनाई हैं युवावस्था की कारण गहरा कारण काव्य है प्रतीक है बड़ा सूचक है हम ये कह रहे हैं कि बुद्ध महावीर कृष्ण राम जैसे लोग शरीर से ही बूढ़े होते हैं भीतर से बूढ़े नहीं होते उन्हें तो भीतर का शाश्वत यौवन अनुभव हो गया है उन्होंने तो भीतर की ऊर्जा को नित नवीन होती ऊर्जा परिचय बांध लिया उनका गठबंधन तो वर्तमान से हो गया है और वर्तमान सदा युवा है वे समय के पार हो गए और समय के पार सब कुछ सदा ताजा है कभी बासा नहीं होता उस ताजगी खबर देने के लिए बुद्ध को कृष्ण को राम को हमने युवा निरूपित किया है हमने उनकी प्रतिमाएं युवावस्था की बनाई कितने मंदिर हैं महावीर के लेकिन सारी प्रतिमाएं युवावस्था की ऐसे ही रहे होंगे ऐसा नहीं है मरते वक्त बूढ़े हुए होंगे नहीं पकाए होंगे बाल धूप में तो भी तो बाल पके होंगे अनुभव से सही नहीं धूप से शरीर जीन जर्जर हुआ होगा झुदिया भी पड़ी होंगी यह सब हुआ होगा यह होना अनिवार्य है शरीर किसी को क्षमा नहीं करता और शरीर किसी के लिए अपवाद नहीं प्रकृति बड़ी साम्यवादी है वह किसी पर भेद नहीं करती वह किसी के लिए नियम नहीं तोड़ती उसके नियम अखंड है शाश्वत है सदा वैसे छोटे के लिए बड़े के लिए ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए गरीब के लिए धनी के लिए इनकी तो बात ही छोड़ दो अज्ञानी के लिए बुद्धत्व को उपलब्ध ज्ञानी के लिए उसके लिए भी प्रकृति के नियम भिन्न नहीं वही नियम लागू और यह उचित भी है लेकिन भीतर बुद्ध का नाद शाश्वत नाद है वह कभी जरा जीर्ण नहीं होता एस धम्मो सनातनो सनातन धर्म को उन्होंने पा लिया है एस मग्गो विशुद्धिया शुद्ध होने का ऐसा अमृत पथ उन्होंने पा लिया है जहां अशुद्धि अब प्रवेश नहीं करती उन्होंने स्वभाव का अनुभव कर लिया है और स्वभाव सदा युवा है बच्चे भविष्य में रहते हैं अतीत तो बच्चों का कुछ होता नहीं जो पीछे लौट के देखे पीछे देख के लौट के देखने को कुछ होते ही नहीं इसलिए तुम भी अगर याद करोगे बहुत याद करोगे तो पीछे ज्यादा से ज्यादा जा सकोगे तीन चार साल की उम्र तक उसके बाद पीछे नहीं जा सकोगे क्योंकि तीन चार साल की उम्र तक तुमने पीछे लौट कर देखा ही नहीं था इसलिए हिसाब नहीं रखा है तीन चार साल की उम्र तक कोई पीछे लौट कर देखते नहीं आगे देखने को इतना है कौन पीछे लौट कर देखता है बच्चे के सामने आगे द्वार पर द्वार खुलते चले जाते बच्चे भविष्य मुखी होते और बच्चे ही नहीं जो समाज नए होते हैं वो भी भविष्य मुखी होते हैं जैसे अमेरिका अभी बच्चा है इसलिए भविष्य मुखी अभी उम्र ही कोई 300 साल की अब 300 साल की क्या करना भारत जैसे मुल्क के सामने जो वैज्ञानिकों के हिसाब से कम से कम दस हजार साल पुरानी संस्कृति का है और अगर वैज्ञानिकों को छोड़ दें और भारत के पंडितों की सुने तो वो तो कहते हैं कोई नब्बे हजार साल पुराना लेकिन दस हजार साल तो पक्का ही समझो दस हजार साल का पुराना बूढ़ा भारत तीन सौ साल की उम्र भी कोई उम्र है अमरीका आगे की तरफ देखता है चांतारों की तरफ देखता है आकाश की तरफ देखता है भारत भारत पीछे की तरफ देखता है भारत का स्वर्ण युग हो चुका सतयुग हो चुका बीत चुका राम राज्य सब हो चुका भारत बूढ़ा हो गया है सब श्रेष्ठ हो चुका आगे देखने को कुछ भी नहीं आगे सिर्फ दुर्दिन दुर्दशा है रोज हालत बिगड़ती जाती आगे से बचना चाहता आगे से बचने के लिए एक ही उपाय कि पीछे की सोचता रहे कुरेत कुरेत के पुरानी स्मृतियों का मजा लेता रहता अब भी तुम रामलीला बैठे देख रहे हो हर साल वही रामलीला तुमने कितनी दफे रामलीला देख ली कुछ फर्क भी नहीं होता उस रामलीला में एक गांव में कुछ लोगों ने फर्क किया था दंगा फसाद हो गए रीवा से खबर आई थी कि रीवा कॉलेज में लड़कों ने सोचा कि रामलीला रामलीला होते होते कितने दिन हो गया कुछ इसमें नया जोड़े कुछ इसको आधुनिक करें इसको कुछ नई शैली दें तो झगड़ा फसाद हो गया नई शैली क्या दोगे नई शैली ये कि रामचंद्र जी टाई बांधे हुए सूट बूट पहने हुए और जब सीता मैया आई ऊंची एड़ी की जूता पहने हुए तो जनता एकदम खड़ी हो गई अब ये बहुत हो गया रामचंद्र जी टाइबा ने यहां तक भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था किसी तरह की चलो ठीक है एक मजाक है चलेगा मगर सीता मैया ऊंची एड़ी की जूती पहने हुए जब आई तो फिर जूते चल गए फिर कुर्सियां टूट गई फिर रामलीला आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि लोगों ने कहा पता नहीं आगे और क्या हो जब शुरुआत ये है तो आगे हालत खराब होने वाली हम उसी रामलीला को देखते रहते वे ही राम वही सीता का चोरी जाना वही राम का जाके युद्ध करना वही सीता को वापस ले आना दुनिया बदल गई सब बदल गया हमारी आंखें पीछे अटकी एक गांव में रामलीला हो रही थी युद्ध खत्म हो गया सीता वापस ले आई गई बस पुष्पक विमान पर बैठकर राम सीता और लक्ष्मण वापस लौटने को है अयोध्या अब पुष्पक विमान क्या एक रस्सी में एक झूला सा लटकाया हुआ है मगर इसके पहले कि रामचंद्र जी चढ़ पाए कुछ भूल चूक से खींचने वाले ने रस्सी खींच दी झूला ऊपर उड़ गया उड़न खटोला जा चुका लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी सीता मैया तीनों ऊपर तरफ देखते रहेगा क्या करें गांव के छोटे छोटे बच्चे थे जो ये बने थे लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया आपके पास टाइम टेबल अगर हो तो देख के बताएं कि दूसरा विमान कब छूटेगा टाइम टेबल आखिर बच्चा तो आज का ही है उसने सोचा कि जैसे रेलगाड़ी का टाइम टेबल होता है एक गाड़ी छूट गई कोई बात नहीं तब ये पुष्प विमान तो गया अब दूसरा कब छूटेगा कभी कभी ऐसी छोटी मोटी नई बातें हो जाती अन्यथा तो राम कथा वही की वही चलती रहती लोग देखते रहते लोग गुणगान करते रहते लोग अभी भी प्रतीक्षा करते हैं राम राज्य आ जाए हमारे पास भविष्य नहीं अमेरिका के पास अतीत नहीं बच्चों के साथ भी यही होता है समाजों के साथ भी सभ्यताओं के साथ भी राष्ट्रों के साथ भी बच्चे भविष्य में देखते हैं और बूढ़े अतीत में देखते बूढ़ा आदमी बैठ के अपनी आराम कुर्सी पर सोचा करता है वो दिन जब वो डिप्टी कलेक्टर था आह क्या दिन थे वे भी साहिबियत के जहां से निकल जाओ वही नमस्कार नमस्कार हो जाता सब याद आते हैं वे दिन बड़े इत्र सुगंध से भरे सम्मान सत्कार डालियां सजी हुई आती थी आम के मौसम में आम चले आ रहे दिन थे मौज के आगे देखे भी तो क्या आगे देखने को कुछ है नहीं आगे तो सब सन्नाटा है मौत की पगध्वनि सुनाई पड़ रही है मौत को देखना कौन चाहता है पीछे की सोचता है कि क्या दिन थे रुपए का बत्तीस सिर दूध मिलता था सोलह सिर घी मिलता था हाँ अब फिर से स्वाद और चटकारे ले लेता दिल बाग बाग हो जाता है फिर सुगंध आने लगती पुराने दिनों की ऐसे अपने को भरमाया रखता है बूढ़ा अतीत में जीता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिस दिन से तुम अतीत के संबंध में ज्यादा विचार करने लगो समझ लेना कि बूढ़े हो गए बुढ़ापे की ये मनोवैज्ञानिक परिभाषा है जिस दिन से तुम्हें अतीत में ज्यादा विचार आने लगे और तुम पीछे की बातें करने लगो कि वे दिन अब क्या रखा है अब दुनिया वो दुनिया न रही अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यायशास्त्री पेरिस गया था पचास साल पहले भी वे पेरिस आए थे पति पत्नी दोनों हनीमून मनाने आए थे पचास साल बाद एक जिज्ञासा फिर मन में उठी कि मरने के पहले एक बार पेरिस और देख ले क्योंकि पेरिस में जो देखा था पचास साल पहले फिर वैसा कहीं ना देखने मिला पचास साल बाद बूढ़े हो गए हैं अब वो पति अस्सी साल का है पत्नी पचहत्तर साल की जिंदगी बह गई गंगा की धार में बहुत पानी बह गया है पचास साल लंबा वक्त होता है पचास साल बाद पेरिस आए बहुत चौंका बूढ़ा उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब पेरिस वैसा पेरिस नहीं मालूम होता वो बात नहीं रही अब पत्नी हंसने लगी और उसने कहा पेरिस तो अब भी पेरिस है जरा नए नए जोड़ों की नजरों से देखो हम बूढ़े हो गए अब हम हम नहीं है पेरिस तो अब भी पेरिस है जो सुहागरात मनाने आए हैं उनसे पूछो अब हम पचास साल जी के आए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा आगे जीने को अब जीने को भी क्या है मगर फिर भी उन्होंने कोशिश की कि एक बार फिर से पुनर्जीवित कर ले उसी होटल में ठहरे जिस होटल में पचास साल पहले ठहरे थे उसी कमरे को मांगा कि चाहे जो कीमत लगे खाली करवाना पड़ा दूसरा यात्री उसमें ठहरा था लेकिन उसको रुस्त दे के खाली करवाया कि हम आए ही इसलिए उसी कमरे में ठहरेंगे उसी खिड़की से दृश्य देखेंगे वही भोजन वही समय रात जब दोनों सोने के करीब आए तो पत्नी ने कहा कि और तुम भूल गए उस रात तुमने मुझे किस तरह आलिंगन बद्ध करके चूमा था कमरा तो वही है चूमोगे नहीं उसने कहा नहीं मानती तो ठीक अभी आया तो उसने कहा जाते हो उसने कहा कि बाथरूम बाथरूम किस लिए जाते तो कहना दांत तो ले आऊ दांत तो बाथरूम में रखाया अब पचास साल बीत गए अब दांत भी अपने ना रहे अब दांत भी सब उधार हो गए अब ये पोपले सज्जन दांत लगा के फिर चुंबन लेने जा रहे हैं ये चुंबन वही होगा ये कैसे वही हो सकता है ये सिर्फ अभिनय होगा थोता बांसा मुर्दा लेकिन लोग अतीत में जीने की चेष्टा करते बूढ़े अतीत में जीते युवावस्था का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है वर्तमान में जीना शुद्ध वर्तमान में जीना अगर तुम ठीक से समझो तो इसीलिए हमने बुद्ध महावीर को युवा मूर्तियां बनाई हैं क्योंकि वे शुद्ध वर्तमान में जिए युवा जिनको हम कहते हैं वो भी कहा शुद्ध वर्तमान में जीते शुद्ध युवा सिवाय बुद्ध और महावीर के कोई होता नहीं हमारा युवक भी पीछे देखता है वो भी कहता है बचपन के दिन बड़े सुंदर थे हमारा युवक भी भविष्य में देखता है वो सोचता है अगले साल बढ़ती होगी बड़ी नौकरी मिलेगी हमारा युवक भी कहा युवक होता है ठीक ठीक आध्यात्मिक अर्थों में युवा नहीं होता कटा कटा होता है आधा अतीत आधा भविष्य थोड़ा पीछे थोड़ा आगे बटा बटा होता है खंडित होता है इसलिए बेचैन भी होता है उसमें तनाव भी होता है बहुत बुद्ध जैसे व्यक्ति कबीर नानक पलटू जैसे व्यक्ति शुद्ध वर्तमान में जीते न कोई अतीत है न पीछे की कोई याद है धूल धमास इकट्ठी ही नहीं करते ऐसे लोग न कोई भविष्य न भविष्य की कोई चिंता है कूड़ा करकट में रस ही नहीं लेते ऐसे लोग ये क्षण बस ये शुद्ध क्षण पर्याप्त है इस क्षण के आर पार कुछ भी नहीं इस क्षण में डुबकी मारते वही समाधि शुद्ध वर्तमान में डूब जाना समाधि है अतीत में रहना मन में रहना भविष्य में रहना मन में रहना ये मन के रहने के ढंग है अतीत और भविष्य वर्तमान में शुद्ध वर्तमान में डूब जाना जरा एक क्षण को अनुभव करो जैसे बस यही क्षण मैं हूं तुम हो ये वृक्ष है ये पक्षियों की चहचहाट है ये सन्नाटा है बस यह क्षण मात्र अपनी परिपूर्ण शुद्धता में न पीछे की कोई याद है न आगे का कोई हिसाब है स्मृति छूट गई कल्पना छूट गई फिर इस अंतराल में शाश्वत की प्रतीति होने लगेगी यही अंतराल समाधि है नहीं रामकृष्ण चिंता ना करो अभी भी भीतर तो वही जीवन धारा है जो कल थी और कल रहेगी दौड़ नहीं सकते अब पुराने ढंग से नाच नहीं सकते अब पुराने ढंग से चिंता ना करो बैठ के ही मस्त हुआ जा सकता है वर्तमान में हो जाओ मस्त हो जाओगे वर्तमान में हो जाओ बेहोश भी हो जाओगे होश में भी आ जाओगे वही समाधि है तीसरा प्रश्न भगवान हमें तो परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं और प्रश्न पूछने के बहाने जब भी हम अपने भाव आपके चरणों में निवेदित करते हैं जैसे कि परसों माँ वीणा ने पूछा था तो आप जिस कुशलता से बाजू हट जाते हो और परमात्मा की ओर इशारा कर देते हो कि पूछने वाला भी चौंक जाता है हम सोचते हैं कि हमारा सीधा निवेदन आपके चरणों में था और आप अंगली उधर उठा देते हो ऐसे वक्त ही हम इस पंक्ति का अर्थ और घना होकर समझ पाते हैं बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए सत्य निरंजन परमात्मा को तुम नहीं जानते मैं तो जानता हूं तुम कितने ही मेरे चरण पकड़ो मैं तो तुम्हें उसके चरण ही पकड़ाऊंगा क्योंकि मेरे चरण आज हैं कल नहीं होंगे वे तो मिट्टी के मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी मैं तुम्हें वे चरण पकड़ाता हूं जो चिन्ह में वे कभी नहीं मिटेंगे तुम सदा उन चरणों में डूबे रहोगे तुम्हें मुझसे प्रेम है तुम्हें मुझसे लगाव है तुम्हारी गहन श्रद्धा मेरी तरफ है लेकिन मैं आज हूं और कई कल नहीं हो जाऊंगा फिर तुम क्या करोगे फिर तुम पत्थर की मूर्ति बना लोगे फिर तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करोगे यही तो होता रहा इसके पहले की ये भूल हो मैं बार बार तुम्हें उस तरफ इशारा कर देना चाहता हूं ताकि मेरे न होने पर भी तुम्हारा और परमात्मा का संबंध न टूटे मैं बीच में खड़ा नहीं होना चाहता हट जाना चाहता उतनी ही देर खड़ा होना चाहता हूं जितनी देर में तुम्हारा संबंध परमात्मा से हो जाए बस उससे रक्ति भर ज्यादा नहीं उससे क्षण भर ज्यादा नहीं क्योंकि एक क्षण की देरी भी खतरनाक हो सकती है अभी वैज्ञानिकों ने एक खोज की है वो समझने जैसी है एक वैज्ञानिक मुर्गियों पर प्रयोग कर रहा था आकस्मिक इस बात का उसे पता चल गया अक्सर विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोजें आकस्मिक होती होंगी ही क्योंकि हम तो जो खोज करते हैं वो पुराने से सोच सोच के करते और पुराने से बंधे रहते हैं तो नई की खोज कैसे हो नई की खोज तो आकस्मिक होती अचानक होती हमारे हिसाब से नहीं होती तो वो तो किसी और काम में लगा था वो तो मुर्गियों के जीवन व्यवहार का अध्ययन कर रहा था लेकिन एक दिन एक अचानक बात हो गई मुर्गी अंडा से रही थी वो मुर्गी का अध्ययन करता था कि मुर्गी कैसा व्यवहार करती उसने मुर्गी को उठा के अंडे से अलग कर दिया वो देखना चाहता था कि वो क्रोधित होती है नाराज होती है झगड़ने को तैयार होती है क्या करती जैसे ही उसने मुर्गी को अलग किया संयोग की बात थी बस संयोग की बात कि अंडा फूट गया और चूजा बाहर आ गया और जैसा कि हर अंडे से चूजा बाहर आने के बाद अपनी मां की तलाश करता है वो बिल्कुल नैसर्गिक है जैसे छोटा बच्चा माँ का स्तन खोजने लगता है जैसे कि माँ के पेट से ही दूध पीने की कला सीख के आता हो अगर ना आता हो तो हम सिखा भी ना सकेंगे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कोई बच्चा अगर माँ के पेट से पैदा हो दूध पीने की कला सीख के ना आया हो नैसर्गिक तो हम क्या करेंगे हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना वो भाषा समझे न हम उसे दंड दे सकते हैं न पुरस्कार दे सकते हैं हमारे सारे शिक्षा शास्त्री सिर पीट लेंगे कि अब करना क्या इसको समझाओ कैसे कि दूध पियो लेकिन कुछ नैसर्गिक अंत प्रेरणा से उसके ओंठ खुल जाते वो माँ के स्तन से दूध पीने लगता है चूसने लगता है ऐसी ही मुर्गी का अंडा निकलता है फूटता है चूजा बाहर आया वो मां की तलाश करने लगा मां तो मिली नहीं खड़ा था ये वैज्ञानिक इसका जूता मिल गया बस इसका जूता पास था उसने जूते पे ही चौंच मारी और एक बड़ी अपूर्व घटना घट गट गई बस वो जूते के ही पीछे घूमने लगा जहां वैज्ञानिक जाए वो जूते के पीछे ही जाए जूते को चोंच मारे जूते से उसका लगाव ऐसा कि वैज्ञानिक बहुत हैरान हुआ फिर उसने बहुत प्रयोग किया तब यह पता चला कि जो पहले क्षण में घटना घटती उसकी इम्प्रिंटिंग हो जाती उसकी एक छाप पड़ जाती जो जीवन भर साथ रहती हम सोचते हैं कि वो जो बच्चा है माँ के पीछे जा रहा है वो माँ के पीछे नहीं जा रहा क्योंकि ये जो चूजा था ये माँ के पीछे गई नहीं माँ की फिक्र ही ना करे वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल में पड़ गया उसको खिलाना पड़े हाथ से दाना क्योंकि उसके लिए तो जूता ही माँ हो गया उसकी इम्प्रिंटिंग बदल गई उस पर तो जूते की छाप पड़ गई वो जूते के साथ ही उसका सारा लगाव हो गया और तब एक और मुश्किल हुई जब वो जवान हुआ तो वो किसी मुर्गी के पीछे न जाए मुर्गियों से दोस्ती ही ना करे न प्रेम चिट्ठियां लिखे न बांग दे न कलगी निकाल के अकड़ के चले वो मुर्गियों में से कोई रस ही नहीं हाँ अगर जूता दिखाई पड़ जाए उसे तो फिर क्या कहने एकदम उसकी कलगी अकड़ जाए बांग दे जोर से अकड़ के चले क्योंकि बच्चे की पहली पहचान स्त्री से तो अपनी मां के द्वारा होती इसलिए जो बच्चे मां के प्रेम से वंचित रह जाते हैं वो अपनी पत्नी को भी प्रेम नहीं कर पाते असंभव है फिर शुरुआत से ही गलती हो गई शुरुआत से ही भूल हो गई और अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण में गहरे जाएं तो हमें समझना होगा कि आज नहीं कल जब दुनिया थोड़ी बेहतर हो थोड़ी ज्यादा समझदार हो तो जिस तरह माँ बेटे को पालती है उस तरह पिता को बेटी को पालना चाहिए नहीं तो स्त्रियां नुकसान में रह जाती बेटा तो मां को प्रेम करके स्त्री का अनुभव ले रहा है तो आज नहीं कल वो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ सकेगा किसी स्त्री को प्रेम कर सकेगा इसलिए पुरुष प्रेम में ज्यादा आतुर होते हैं उत्सुक होते हैं स्त्रियां प्रेम आदि में ज्यादा उत्सुक नहीं होती उनकी उत्सुकता गहना साड़ी हीरे जवाहरात इत्यादि में ज्यादा होती पुरुष के साथ तो वो किसी तरह गुजारा करती क्योंकि हीरे जवारात और साड़ी इत्यादि और कहां से आएगी पुरुष तो एक तरह का सेवक है और अगर वो पुरुष को प्रेम भी देती है तो इसी बदले में यही सौदा है इसलिए जिस दिन पुरुष को पत्नी का प्रेम चाहिए उस दिन वो नई साड़ी खरीद लाता है आइसक्रीम खरीद लाता है फूलों का गुच्छा ले आता है उस दिन स्त्री प्रसन्न है और जिस दिन स्त्री को पुरुष में कोई रस नहीं क्योंकि वो कुछ न लाया है न तनख्वाह का पता है महीना हो गया न नई साड़ी खरीदी है न कोई नया गहना मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से कह रहा था कि मैं ये समझ ही नहीं पाता कि सरकार संतति नियमन का इतना प्रचार क्यों करती दो या तीन बस जगह जगह लिख रखा था दो या तीन बस छोटा परिवार सुखी परिवार मुफ्त बांटती है साधन संतति नियमन के फिजूल की बकवास है मैं सरल तरकीब जानता हूं मेरी पत्नी सरल तरकीब जानती उसको मित्र ने पूछा वो क्या तरकीब उसने कहा तरकीब सीधी है तो एकदम करवट ले लेती है कहती सिर में दर्द है जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो कहती मेरे सिर में दर्द है बच्चे पैदा भी कहां होंगे कैसे होंगे पत्नी के सिर में दर्द है वो तो ओढ़ के एकदम सो जाती सिर में दर्द मुल्ला कह रहा था कि सरकार को हर स्त्री को समझाना चाहिए कि जब भी पति आए एकदम से सिर में दर्द है कंबल ओढ़ के सो गए न संतति नियमन की जरूरत न निरोध की जरूरत न और तरह के उपद्रवों की जरूरत सीधा काम पुरानी तरकीब जांची परखी तरकीब सदियों की पहचानी हुई तरकीब स्त्री को उतना रस नहीं मालूम होता है मेरे पास न मालूम कितनी स्त्रियां आके ये कहती हैं कि हम थक गए ये बकवास प्रेम की कब बंद होगी ये काम वासना से कैसे छुटकारा होगा पति का नहीं हो रहा है कितनी स्त्रियां मुझे आके कहती हैं कि पति में कब समझ आएगी इनका रस जाते ही नहीं इसका कारण पति को पाला है मां ने इसलिए उसे स्त्री में रस है और लड़की को भी पाला है मां ने इसलिए प्रत्येक स्त्री को दूसरी स्त्री के साथ वैमनस्य विरोध है ईर्षा है और पुरुष के साथ कोई लगाव पैदा होने का पहला क्षण ही नहीं आ पाया वो पहली इम्प्रिंटिंग पहला प्रभाव वो छाप नहीं पड़ पाई अगर हम मनुष्य को वैज्ञानिक ढंग से कभी व्यवस्थित करें तो पिता को ज्यादा से ज्यादा मौका अपनी बेटियों के लिए देना चाहिए जितना समय मिल सके लेकिन हालत उल्टी अगर बेटा मां के गले झूमा रहे तो कोई अड़चन नहीं लेकिन अगर बेटी पिता के गले झूम जाए तो मां ही ऐतराज करती मां बर्दाश्त नहीं करती कि बेटी में पिता ज्यादा रस ले बेटी में रस लेते हुए मां को ईर्षा पैदा होती बेटी से भी ईर्षा पैदा हो जाती इस तरह की मूर्ता प्रचलित है इस कारण दुनिया में स्त्रियां पुरुषों को ठीक से प्रेम नहीं कर पाती और चूंकि स्त्रियां प्रेम नहीं कर पाती पुरुषों को ठीक से पुरुषों का प्रेम भी अधकचरा रह जाता है क्योंकि दूसरी तरफ से ठीक ठीक उत्तर ही नहीं मिलता और जहां प्रेम अधकचरा रह जाए वहां प्रार्थना कैसे पूरी हो जहां प्रेम का जीवन ही ना जिया जा सके वहां परमात्मा की स्मृति और शुद्ध कैसे आए यहां लोग परमात्मा को याद करते हैं असफलता के कारण और मैं चाहूंगा कि तुम परमात्मा को याद करो सफलता के कारण यहां लोग परमात्मा को याद करते हैं कि जीवन में सब गड़बड़ हो गया मैं चाहूंगा कि तुम परमात्मा को याद करो कि जीवन एक अहोभाग्य था कि जीवन एक सुअवसर था एक वरदान था एक आशीष था परमात्मा का तब निश्चित ही तुम्हारे धन्यवाद का स्वर दूसरा होगा तब तुम सच में ही कृतज्ञ भाव से उसके चरणों में झुकोगे तो मैं उतनी ही देर तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं जितनी देर तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ा दू एक क्षण ज्यादा नहीं क्योंकि एक क्षण अगर ज्यादा रह गया इम्प्रिंटिंग हो जाती वही हो गया जैनियों की छाती पर महावीर की इम्प्रिंटिंग हो गई मुसलमानों की छाती पर मोहम्मद की इम्प्रिंटिंग हो गई ईसाइयों की छाती पर जीसस की तस्वीर टंग गई और ये तो आड़ हो गई मैं तुम्हारे लिए आड़ नहीं बनना चाहता सत्य निरंजन तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है तुमने जांचा ठीक तुम परखे ठीक कि तुम पूछते हो कुछ मैं जवाब देता हूं कुछ बात ठीक है वीणा भी तुमसे राजी होगी वीणा ने भी पूछा था उसका इशारा मेरी ही तरफ था वो मुझे भी पता है इतनी तो भाषा मैं भी समझ लेता हूं लेकिन मैं धीरे धीरे इधर से उधर से परोक्ष ढक धक्के दे देखे तो मैं फिसलाता हूं परमात्मा की तरफ तुम मुझसे न जकड़ जाना हाँ मैं तुम्हारे लिए इशारा बन जाऊं बस इतना काफी जाना तो परमात्मा में जाना तो उस परम सागर में मैं तो धन्यभागी हूं कि तुम्हें वहां तक पहुंचा पाऊं मेरा आनंद इतना ही है कि तुम परमात्मा से जुड़ जाओ और मुझे भूल जाओ अगर न भूल सको तो इसीलिए याद रखना कि मैंने तुम्हें परमात्मा से जुड़ाया और किसी कारण नहीं कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा की जगह मैं बैठ जाऊं तो तुम अटक जाओगे तो तुम भटक जाओगे इसलिए सत्य निरंजन जानते हुए भी कि तुम अपना निवेदन मेरी तरफ करते हो मैं तुम्हारे निवेदन को परमात्मा की तरफ मोड़ देता हूं मैं तुम्हारे सब निवेदन उस तरफ मोड़ना चाहता हूं तुम्हारी आंखें तुम्हारे हाथ तुम्हारे प्राण सब उसे टटोलने लगे मेरी सन्निधि में तुम्हें उसकी याद आ जाए तो बस मेरा काम पूरा हो गया मेरी सन्निधि में मेरे संग साथ तुम्हें उसका रस लग जाए तो बहुत संक्रामक हो जाए परमात्मा तो बहुत जब नैस प्रकृति के अंचल में मुस्का उठते हो मंद मंद हो जाता है क्षण भर मुखरित मेरा अलसित जीवन अमंद करते हो आंख मिचौनी सी द्रग द्वार खोल कर पुनः बंद बज उठता है निस्पंद पड़ी मेरी वीणा का विरह गीत मेरे पावन मेरे पुनीत जब सज मुक्ता मालाओं से कर उठते हो झिलमिल झिलमिल चांदी के सूक्ष्म सितारों सी रश्मिया विरल रिलमिल रिलमिल करते हो कुछ संकेत मात्र अगणित द्रग सेनों से हिलमिल जगसा जाता है क्षण भर को विस्मृति में सोया सा अतीत मेरे पावन मेरे पुनीत जब झूम चूम लेते हो तुम वारिधि के द्रग की मदिर कोर लहरा उठता है बेसुब सा छल छपक छपक हिल हिल हिलोर देते तुम अपने अधरों को उसके नव मधु में बोर बोर विस्मित सा देखा करता हूँ तब मैं अपनी ही हार जीत मेरे पावन मेरे पुनीत जब उषा के वातायन से तुम देखा करते उझक झांक जग तृण तरुपड़ मृदु कुमो पर लेता सुंदर छवि आंख आंख भूपर विलसित हो जाता है कल्पित स्वप्नों का स्वर्ण लोक अनजाने में हो जाते हैं मेरे कुछ क्षण सुख से व्यतीत मेरे पावन मेरे पुनीत तुम्हें उस परम पावन परम पुनीति का स्मरण दिलाना चाहता हूँ इतना इतना कि सुबह सूरज उगे तो वही उगता दिखाई पड़े रात तारों से आकाश भर जाए तो उसी से भरा हुआ मालूम पड़े परमात्मा मुझ में ही तुम्हें दिखाई पड़े और कहीं ना दिखाई पड़े तो मैं तुम्हारा मित्र न रहा शत्रु हो गया मुझ में दिखाई पड़े ये तो पहला पाठ गुरु में दिखाई पड़े ये पहला पाठ अंतिम पाठ नहीं है ये ये तो बस काखागा फिर और आगे जाना है फिर धीरे धीरे चांतारों में सूरज में पहाड़ों में नदियों में वृक्षों में पक्षियों में पशुओं में मनुष्यों में सबसे आखिर मैं कह रहा हूं मनुष्यों में क्योंकि वो सबसे अड़चन की बात है पड़ोसी में जिस दिन तुम्हें परमात्मा दिख जाए समझना कि सिद्ध हो गए सिद्ध पुरुष हो गए जीसस ने कहा है दो वचन अपने शत्रु को अपनी ही तरह प्रेम करो और एक और वचन कि अपने पड़ोसी को भी अपनी ही तरह प्रेम करो एक ईसाई मिशनरी मुझसे बात कर रहा था उसने पूछा कि शत्रु को प्रेम करो ये तो समझ में आता है मगर जीसस ने ये क्यों विशिष्ट रूप से और कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी तरह प्रेम करो तो मैंने कहा उसका कारण है कि शत्रु और पड़ोसी दोनों एक ही आदमी के नाम पड़ोसी ही शत्रु होते और कौन शत्रु होगा इसलिए जीसस ने सोचा होगा कि शत्रु से प्रेम करो इसमें कहीं भ्रांति न रह जाए तो पीछे से और एक शर्त जोड़ दी कि पड़ोसी से भी अपने ही तरह प्रेम करो और ध्यान रखना पहले जीसस ने कहा शत्रु से शत्रु से भी प्रेम करना आसान है मगर पड़ोसी से बहुत मुश्किल है उससे तो प्रतिस्पर्धा है उससे प्रेम उससे तो ईर्षा है उससे प्रेम उससे तो छाती जलती है उससे प्रेम इसलिए मैं मनुष्य को सबसे अंत में ले रहा हूं फैलाओ प्रेम को जो प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति है सत्य निरंजन वह प्रेम तुम्हारा समस्त के प्रति हो जाए तो प्रार्थना बन गई आराधना बन गई पूजन हो गया तुम फिर जान सकोगे मेरे पावन मेरे पुनीत जब झूम झूम लेते हो तुम वारधी के द्रग की मदिर कोर लहरा उठता है वेसुत्सा छल छपक छपक हिल हिल हिलोर देते तुम अपने अधरों को उसके नव मधु में बोर बोर बिस्मिस सा देखा करता हूँ तब मैं अपनी ही हार जीत मेरे पावन मेरे पुनीत जब ऊषा के वातायन से तुम देखा करते उझक झांक जग तृण तरु पर मृदु कुसुमो पर लेता सुंदर छवि आंख आंख भूपर विलसित हो जाता है कल्पित स्वप्नों का स्वर्ण लोक अनजाने में हो जाते हैं मेरे कुछ क्षण सुख से व्यतीत मेरे पावन मेरे पुनीत आज इतना ही